यदि आप कहते हो निर्विषय होने से ये आत्मा असंग है लेकिन चित्त से न निसंगता तो होती भले निर्विषय अवस्था बन जाएगा किंतु चित्त के अंदर निसंगता तो हो नहीं सकता वो तो निर्विषय अवस्था में भी आत्मा ससंग ही रहेगा निसंगता उसके अंदर नहीं आ सकती क्यों क्योंकि परमार्थिक दृष्टिकोण से भी वैशेषिकारी क्या मानते छठ पदार्थों को मानती है परमार्थ तो वैशेषिका शब्दार्थान द्रव्य समवायांतान आतिष्ठते टीकाकार स्पष्ट कर रहे आनंद गिरी में अरे वैशेषिक गाय तो छह पदार्थों का मानते हैं तो सिद्धांत तो वैशेषिक आदि के पारिभाषिक व्यवहार को अनुसरण करते हुए हम भी कह देंगे पदार्थ है क्या आपत्ति हमें व्यवहार हो रहा है छठ पदार्थ क्या सोलह पदार्थ क्या लो छत्तीस का लो हमें क्या आपत्ति सकल्पना तो है कल्पना करने में आप एक से लेकर के हजारों की कल्पना कर डाले पदार्थ तो हमें कोई आपत्ति नहीं कल्पना कल्पित वस्तुओं का कभी अधिष्ठान से कोई विरोध नहीं होता है कंजूस क्यों करना साथ क्यों बोलना हजार का हेलो ना हमें क्या आपत्ति हो रहा है कोई व्यवहार में हमारे साथ कोई विरोध नहीं होता है ठीक है उनका व्यवहार अपने जगह पर क्यों पूर्व पक्षी का शंका का आधार क्या है यस्मात शास्त्र शास्त्र शिष्य आदे है भाष्यकार करते क्योंकि जो है शास्त्र शास्त्र और शिष्य इस प्रकार के विषय से विद्यमान इस प्रकार के विषय जो है ना विद्यमान है कैसे आपका असंग हो जाएगा जगते ही बराबर सब ध्यान में आ जाते हैं इसलिए नई से दोष कहते हैं हाँ, तो है रहने तो हमें क्या पता उनके होने मात्र से आत्मा ससंग नहीं हो सकता निसंग ही रहेगा असंग ही रहेगा क्यों कस्मत यह पदार्थ विद्य विद्यते जो पदार्थ आप कह रहे हो शास्त्र शास्त्र शिष्य वगैरह है करके स कल्पित समृत्या कल्पिता चा परमार्थ प्रतिपत्ति उपाय सा कल्पिता परमार्थता प्रतिपत्ति को उपाय रूपेण इन सब की कल्पना कर ली गई है गुरु है शास्त्र है आचार्य है शिष्य है ये सब व्यवहार जो है ना कल्पना क्यों किया गया है परमार्थ के प्रतिपत्ति के लिए परमार्थ प्रति उपाय कल्पिता फिर चलो कल्पित हो तो सत्य तो मान लो अरे नहीं समृद्धि सा और आविद्यक भी है व्यावहारिक है कल्पना पारमार्थिक नहीं है परमार्थ प्रतिपत्ति के लिए कल्पित वस्तु भी पारमार्थिक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है संवादी भ्रांति में अपारमार्थिक वस्तु के द्वारा भी पारमार्थिक वस्तु की हो जाए प्राप्ति हो सकती है समाधि भ्रांति ऐसा ही होता है इसलिए कहते हैं कि देखो परमार्थ उपाय रूपेण शास्त्र शास्त्र शिष्य की हमने परिकल्पना किया है जो वह समृद्धि रूपाई है अर्थ कल्पित समृद्धिया तारस कल्पित सती आविधिकत्व व्यावहारिकत्व जिन जिन पदार्थों में है यो परमार्थ नास्ती असौ न विद्यते ऐसा जो पदार्थ है कहे जाएंगे पारमार्थिक दृष्टिकोण से वास्तव में वे नहीं है ज्ञाते द्वैतम न पहले हमने इस बात को बहुत तो तीसरी प्रकरण में भी दूसरे प्रकरण में भी दो दो बार आ चुका है यहाँ इसलिए मूल में न करके भाष्यकार उसको याद दिला देते हैं ज्ञाते द्वैतम न इसलिए कहा गया है यश्च परतंत्र अभिसंवृत्तिया परशास्त्र व्यवहार से पदार्थ वह का व्यवहार को लेकर के आप यदि कहते हो कि नहीं पदार्थ है चाहे दो है तीन है सात है सोलह है चौबीस है पच्चीस है छत्तीस है छप्पन है जो भी जितना भी कहे स वो जो है कथन पदार्थ करके परमार्थ तो निरूप्य मानो नास्ते परमार्थ तो निरूपण करने की चेष्टा करोगे ना आपको निश्चय होगा कि वे है नहीं दृश्य अनुपहित स्वीय रूप दृश्यत्व को परित्याग करके कोई इनका यथार्थ स्वरूप कथन नहीं कर सकता किसी में प्रमाण के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता है पूछेंगे उस पदार्थ का लक्षण क्या है तो लक्षण प्रमाण आप वस्तु सिद्धि लक्षण दोगे और प्रमाण को प्रस्तुत करोगे लक्षण प्रमाण दोनों का खंडन कर देंगे तब तो क्या रह जाएगा वो पदार्थ है फिर जब लक्षण नहीं टिका प्रमाण से जब प्रस्तुत उसका खंडन हो जाता है तो वस्तु है ही नहीं और सत्य पदार्थों की तो जबरदस्त खंडन चित्त सूची में विस्तार उसे पढ़ लेंगे आप एक एक का भी लक्षण उठाया और जो जो अनुमान प्रस्तुत करते हैं सारे का खंडन किया वैशेषिक मत का मुख्य आधारभूत ग्रंथ मान मनोहर और व्योमवती इन्हीं ग्रंथों को उठा करके खंडन किया है तो इसने यह कहा है कि भाई निरूप्य मानो इसे जान के कहा यदि पारमार्थिक है वो उसका निरूपण होना चाहिए लक्षण प्रमाण से इसे हम यहाँ पर वेदांत शास्त्र में प्रमाणों के अंदर उसका निरूपण कर रहे हैं सच्चिदान ब्रह्मादि जैसा अपेक्ष लक्षणों का कथन कर रहे हैं क्योंकि आप कहते हो आत्मा जड़ है असत है हम कहते नहीं सत है बस आपने कहा असत इसलिए तो हमें कहना पड़ा सत नहीं तो हम कहते ही नहीं सत करके आपने कहा आत्माओं का जन्म होता है इसलिए हमको कहना पड़ता है वो आज है यदि आप जन्म ना मानते तो हम आज भी नहीं बोलते आप जैसे जैसे मानते हो उस तत्व को वो सब गलत मानते हो इधर के विपरीत हमारे शास्त्रों में कह दिया गया आप कहते हो भाई आत्मज्ञान पैदा हो जाता है चेतनता आ जाती है अरे आने जाने वाली चेतनता इसका मतलब क्या हुआ अनित्य होगा हमने कहा नित्य हो नित्याराम कह दिया इसीलिए तो सब आपकी शब्दावलियों के अनुसार जो द्वैतवादी है अन्य अन्य अवलंबी लोग है शास्त्रावलंबी लोग है उनके कथन का सापेक्ष पूर्वक हमने लक्षण का कथन किया है उनके प्रस्तुत जो प्रमाण अनुमान उपमान शब्द अनुपलब्धि वगैरह अर्थापति उन्हीं प्रमाणों को ही हमने भी खंडन करके तद अनुरूप प्रमाणों को इस्तेमाल कर दिया इसलिए वास्तव में अपना जो जो ब्रह्म तत्व है वो ब्रह्म तत्व जो नाम भी हम जब कर रहे हैं ना एक व्यवहार करने लिए शास्त्र में व्यवहार करने के नामकरण किया जा रहा है न तो उसका नाम कह सकते हो न उसको अज कह सकते हो कुछ भी नहीं कह सकते है बस इसलिए वहाँ कटोप परिषद ने पूछा जाने पर इतना अरे अस्तित्व उपलब्ध है करके मान लो बस काम खत्म है शूद्र कैसे अरे तुम हो ना बस है तो मस काम खत्म हो गया तुम है या नहीं बताओ हेल्पर मैं नहीं हूँ हेल्पर कहेगा मैं नहीं कैसे कहेगा कोई अरे मैं हूँ ये सभी यही तो चाहते हैं भूया समेव मान भूया भुवम भूया समेव मैं कभी न हो ऐसा न हो मैं कहा सदा सदा ही रहू यही सभी की आकांक्षा है क्यों उस अस्तित्व का अपलाप कोई नहीं करना चाहता है यदि आत्मी रूपेण ही वो अनुभूति स्वरूप के रूपेण ही वो अनुभव हो सकता है और जितने भी विशिष्ट नाम दोगे रूप दोगे कथन करोगे वो सब के सापेक्ष कथन है इसी की ओर ले जाने के लिए बात कह दिया तेना युक्त उत्तम इसलिए तो युक्त ही कहा है पूर्व कारिकाओं में असंगम तेन की केवल शास्त्रों के द्वारा उस आत्मा को असंग कहा गया है ऐसा जो कहे हैं पूर्व कारिका में उचित ही सिद्ध हुआ कहते हैं शास्त्रादि भेद कल्पना यदि अविद्या सिद्ध मानते हो उसी के दिन आत्मा के अजत्व की सिद्धि भी है अरे शास्त्र तो बोला आत्मा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि ये तो कौन कह रहा है शास्त्र तो कहा सच्चिदानंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम ब्रह्म शास्त्र तो बोला अब आपने तो शास्त्र को भी कल्पित समृत्या कोटि में डाल दिया अर्थ वो भी आविद्य को गया उसी उसने कथित चित्र अजत वगैरह वो भी काल्पनिक का ही है तो गड़बड़ हो जाएगा आपका सिद्धांत कहते नहीं हमारे सिद्धांत कभी गड़बड़ नहीं होता सिद्धांत है का स्वरूप ही सिद्धांत अपना था स्वरूप कहाँ गड़बड़ आ जाएगा समझने की बात है तो इसलिए कहते अज कल्पित संवृत्या परमार्थे नाप्यज परतंत्राभिनिष्पत्या संवृत्या जायते तुष स्पष्ट कर देते हैं आज कोई आप कल्पित समृद्धि से कहोगे ना अब हम उसको अनुमोदन करते हैं बिल्कुल ठीक कहे हो तुम तुम्हारे समझ बिल्कुल सही है हमारे शब्दों को तुम सही समझ रहे हो है ना तभी तो आपने कहा शास्त्र को हमने कल्पित दी तुरंत तुमने पकड़ के बोला होगा अजब तो आज भी कल्पित है कलशा अच्छा, भाष बहुत बढ़िया समझा आपने तो धन्यवाद है क्योंकि हम भी यही कहना चाहते हैं परमार्थ ना नापते जा रहे हैं परमार्थ दृष्टिया तो उस आत्मा को मच भी नहीं कहेंगे क्योंकि अजत्व उसमें कल्पित राजत्व की कल्पना क्यों किया आपने कहते बात ऐसा है परतंत्र निष्पत्तिया ये भी आप ही लोगों के दर्शनों की मजबूर होकर कल्पना करना पड़ा है क्यों बात तो समृत्य जायते तो सह क्योंकि आप लोगों के मत में आत्मा पैदा होता है हमें कहना पड़ा कि वो तो समृद्धि से उत्पत्ति होने से अजत्व कहना पड़ रहा है आत्मा आविद्य की उत्पत्ति है जन्म मरण आदि शरीर जो उपाधियों के जन्म मरण से लेकर के आपने आत्मा की जन्म मरण जो का व्यावहारिक की है पारमार्थिक नहीं है अरे यथार्श उत्पत्ति दृष्टिया कह दे रहे अजब शब्द प्रयोग कर स्वदर्शन दृष्टिया तम उसे अजन भी नहीं पा सकते ये कहते ननु शास्त्र नाम समृद्धि पे अजय थी ये मैं कल्पना समृद्धि कहते यदि शास्त्र आदिया सब कुछ आविद्यक है व्यवहारिक है व्यवहार मात्र है फिर तो आजा ये जो आप बारंबार कहते आए हुए हो वह भी कल्पना होने के नाते शास्त्र की कल्पना होने के कारण से वो भी व्यावहारिक हो जाएगा समृद्धि से आप सत्यम एवं बिल्कुल ठीक कह रहे हो लेकिन थोड़े समझ के कहने से पहले थोड़े समझ की कमी है उसके कहने का तात्पर्य क्या था इसका मतलब आत्मा न ज है न आज है ज भी नहीं अज भी मनी शून्य है इसे यहाँ भाषिकार सत्यम अर्धांगिकार में सत्यम कह रहे हैं पूर्ण स्वीकृत नहीं बाहर हम नहीं कहा अस्तो ठीक बोल रहे हो तुम नहीं सत्यम क्योंकि अभी थोड़ी समझ में कमी बोलते हो तो उसका बोलने का आशय क्या है शून्यवाद को खड़ा करना आशय था क्यों वो तो है नहीं और अजन्य भी नहीं अज भी नहीं ज भी नहीं इसका मतलब क्या शून्य ऐसी उसकी भावना है बोलने का पीछे उस भावना पर ध्यान दे करके भाष्यकार कहते सत्यम एवं ठीक कह रहे हो आप लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रादि कल्प समृद्धि अजित इच्छित है शास्त्रादि कल्पित व्यवहार को लेकर के ही हम आत्मा में अजित कहते हैं इतनी बात जो तुम सीधे सारे शब्द में कह रहे हो तो ठीक है कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये भी साथ में समझो क्या परमार्थ न पारमार्थिक दृष्टिया आत्मा अज भी नहीं कहा जा सकता लेकिन इसका मतलब शून्य है ये भी मत कहो हमने अज शब्द जो शास्त्र में व्यवहार किया है वो शून्य के खिलाफ किया है जन्यत्व का खिलाफ भी है शून्यत्व का भी खिलाफ अजत्व का तात्पर्य क्योंकि अस्मात परतंत्र निष्पत्तिया परतंत्र मैंने परशास्त्र उनके द्वारा अपेक्षा परशास्त्र प्रसिद्धि अपेक्षा पर शास्त्र प्रसिद्ध जो व्यवहार है उन व्यवहार में क्या है जन्यत्व शून्य इत्यादि इत्यादि आस्तिक नास्तिक दुनिया भर के लोगों ने कुछ कुछ कहा है उन सभी की अपेक्षा को लेकर के यो अजित तो जो हमने अज कहा है ना सस्वृत्ति आ जाए थे वही अज जो आत्मा है ना की आविद्य की उत्पत्ति को प्राप्त होता है ये तात्पर्य है अतो अजय यम भी कल्पना परमार्थ विषय नहीं क्रमते इसलिए जिसलिए आत्मा का जन्म समृद्धि सिद्ध है तब जन्म की सापेक्षता पूर्वक उस आत्मा को जो मैं अज कह रहा हूँ वह जो है ना कल्पना है लेकिन वह कल्पना भी परमार्थ विषय नहीं क्रम थे तादृशी कल्पना भी सापेक्ष कल्पना हो गए होने के नाते परमार्थ विषय में परमार्थ बुद्ध वस्तु नहीं नैव प्रसृति करता वह उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती वह कल्पना भी परमार्थ विषय में प्रवेश नहीं कर सकता संबंधित नहीं हो सकता है अगर जन्यत्व संबंधित नहीं हो सका अजत्व का भी संबंध नहीं है केवल अजत्व का जो कथन है वो जन्यत्व का भी सापेक्षता शून्यत्व की सापेक्षता या इंद्रियारियों का आत्मा करने की सापेक्षता से कह दिया जा रहा है इसलिए परमार्थतः उसको अजबी कहना उचित नहीं सिद्ध हुआ फिर ये सब कैसे हो रहा है जन्म का सब बातें चल रही हैं कहते हैं अमुक मर गया उसका निर्वाण महोत्सव मनाओ उसकी भी रजत महोत्सव मनाओ सब से चल रहा है फिर कहते भाई इसीलिए होता है ये सब क्यों अभूता विनिवेश दयम तत्र न विद्यते भाषम सबुद्ध निर्निमित्तो न जायते ये सब अभूत का अभिनिवेश है अविद्यमान असत्य द्वैत अभिनिवेश हो रखा है लोगों में असत्य द्वैत का अभिनिवेश अपने खोपड़ी में सवार कर लिए जबरदस्त इतना ठूस करके अंदर भरा पड़ा हुआ है वो द्वैताभिनिवेश की उसको लेकर के सब द्वैत व्यवहार करते रहते अभूत अभिनिवेश हो अभूत मैंने असत्य द्वैताभिनिवेश लोगों में यह आग्रही क्या है द्वैतम द्वयम यही द्वैत का कारण बन गया लेकिन तत्र यानी वास्तव विचार करके देखो द्वयम न विद्यते उस परमार्थ शुद्ध ब्रह्म में द्वैत की गंध भी नहीं है संबंध ही नहीं ये द्वैत जो अस्थि है वो अभूताभिनिवेश के कारण असत्य द्वैताभिनिवेश जिसने कर लिया उसके लिए द्वैत है और द्वैत है तो सब व्यवहार करेगा जन्म मरण का व्यवहार करेंगे और वास्तविक ब्रह्म में अद्वैत ब्रह्म में विचार करके देखते हैं तो द्वयम न विद्यते भाव स बुद्धा निर्निमित्त न जायते अतः द्वैता भाव को जानकर ही क्योंकि यह मिथ्या जो आग्रह है ना यही हमारे जन्म मरण का कारण निमित्त निर्निमित्त कर कि जन्म मरण का निमित्त कौन था ये द्वैताभिनिवेश इस मिथ्या आग्रह जो बैठा हुआ है कि मैं सत्य हूँ मेरे से अलग ये जगत है मेरा जन्म हो गया ऐसा जो द्वैत अभिनिवेश कर बैठा है मिथ्या आग्रह जो उसके अंदर हर व्यक्ति की बुद्धि में जो बसा पड़ा है यही जन्म मरण का निमित्त है जो निमित्त नहीं रह गया निर्निमित हो न थी नहीं रह गया क्यों क्यों द्वैता भावम वो जो द्वैता अभिनिवेश था उसके अभाव को वास्तव में जानने से ही निमित्त रहित हो जाने के कारण इस जीव का पुनः जन्मादि का व्यवहार नहीं होगा यस्मान असद्वैत विषय तस्माद असत्य भूते द्वैते जिसलिए असत्य है समस्त द्वैत का विषय इसलिए तारच असत्य भूते द्वैते यदि अभूत अभूताभिनिवेश क्या कर रहे हैं असत्य भूते द्वैते मिथ्याभूत उस द्वैत में अभिनिवेश जिसलिए उस मिथ्याभूत जो है द्वैत में अभिनिवेश मैंने आग्रह बना हुआ है केवलम अभिनिवेश आग्रह मात्र आग्रह मात्र कर रहा है वास्तव कुछ है नहीं जबरदस्ती आग्रह चल रहा है जबरदस्ती पकड़े हुए चल रहे हैं हम लोग ये अपना अपना आग्रह जिसकी जितनी पकड़ उतनी चल रही है गाड़ी है जिस जो जितना अद्वैत अभिमान करेगा उतना ही वो द्वैत में ज्यादा महत्व पाएगा वो क्योंकि तो मैं करेगा ना वो पुरुषार्थ करेगा जिसकी बुद्धि जितना द्वैत में आरूढ़ रहेगा उतना ही ज्यादा द्वैत प्रपंच में वो कुशल होते जाएगा लगा रहेगा उसमें दिन रात दिन रात जैसे देखो खेती कर रहा है वो अपने काम में कुशल है आप हाँ, तो कुछ भी नहीं जानते कब बोना क्या बोना कैसे बोना कुछ हम लोग नहीं जानते अब हाँ, वो अपने में कुशल है क्योंकि उस, उस द्वैत में आरूढ़ है और हम लोग किस द्वैत में आरूढ़ है हम लोग इसमें कुशल हो रहे हैं पढ़ने पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए ये द्वैत आग्रह है ये द्वैत आग्रह में कुशल हो रहे हैं इसको भी असंगता पूर्वक करेंगे जब ही स्वरूप में पहुंच पाएंगे तो यहाँ भी किंचित अभिमान से करेंगे अपने अपने ज्ञान का यदि थोड़ा सा भी आग्रह आ गया मैं विद्वान हूँ ये आग्रह आ गया तो गया सारा खेल चौपट हो जाएगा जितना मेहनत किया है वेदांत पढ़ के समझने की सब बेकार चला जाएगा यदि वह अपने आप को विद्वान करके अभिमान कर ले जाएगा ये अभिनिवेश जिस दिन आ जाएगा उस दिन वापस होगी संसार जो चतुर्मंच में फंस गया फिर उसी को भूलेगा ना बोलो विद्वान हूँ तो विद्वान हूँ तभी मेरा सम्मान होना चाहिए और सम्मान पाने के लिए इधर उधर जाएगा कथा हाँ प्रवचन बोलना समझाना सब करेगा हाँ जाएगा और उसके हाँ महन जी महाराज आई आई विद्वान आ गए आचार्य आ गए सम्मान मिल गया हमको लोग मानते विद्वान करके अंदर से अंदर वो द्वैता विनिवेश पुष्ट होते जाता है तो इसलिए इन सबको त्यागना पड़ता है उसके बिना हम हाँ, मुश्किल हो जाता है जब तक जीवन मुक्त होकर ग्राम स्थिति न हो और त्याग कर सर हो रहा है कोई जूते हमारे घर क्या पड़ेगा फिर माला पहने से खुशी होगी ऐसे नहीं है और स्थिति जब आ जाएगी तो मान अपमान समय करता लाभ अलाभ जया जय वो स्थिति अपने आप हो जाएगी उसके कारण कर्मशात अपने आप प्रवृत्ति होती रहेगी तो द्वैताग्रह नहीं होगा उसे पूर्व पर्यंत ही क्या होता है अभूताभिनिवेश की संभावना किसी भी क्षण में इसलिए उनका कहना है कि देखो कि द्वैताभिनिवेश अस्थित केवलम अभिनिवेश आग्रह मात्र क्यों क्योंकि द्वयम तत्र न विद्युत स्वरूप में जाओ तो वहां कोई द्वैत है नहीं जो आग्रह था जो अभिनिवेश था जो अभिमान था तो मिथ्या था मिथ्याभिनिवेश मात्र जन्म कारणम कारण जिसलिए ये दर्श मिथ्याभिनिवेश मात्र ही हमारे जन्म मरणादि व्यवहार का कारण है तस्मात दया भावम बुद्धवा तारशी जो द्वैताभिनिवेश मिथ्याभिनिवेश असत्याभिनिवेश है उसके अभाव को बुद्धवा जब उसके अभाव का उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है निर्निमित सन निमित्त नहीं रहा द्वैताभिनिवेश जो केवल आग्रह था केवल अभिनिवेश था मिथ्याभिनिवेश वह निमित्त नहीं रह जाने से निवृत्त मिथ्या द्वयाभिनिवेश हो निर्मित मतलब निवृत्त हो गया है मिथ्याभूता द्वैत निष्ठ अभिनिवेश जब जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है जो जीवात्मा के अंदर ऐसा हो जाता है स न जाए थे वह दोबारा जन्म आदि मरण आदि का व्यवहार प्राप्त नहीं करते यदा न लभते हेतु उत्तमाधम मध्यमान तदा न जायते चित्तम हेत भावे फलम अरे जो कार्य कारण मानने वालों को भी कह दे रहे हैं भाई ये जन्म मरण आदि का कारण कौन था कि अपने अंदर हम पुण्य पुण्य उत्कर्ष मानते हैं तो देवताओं की योनि प्राप्त हो जाती है उत्कर्ष मानेंगे तो आसुरादी योनि प्राप्त होता है मिश्र मानते हैं तो मनुष्य इसलिए उत्तम मध्यम और अधम का कारण ये होता है जो धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि यदा न लवते जब हेतु तो ही प्राप्त नहीं होगा तदा न जायते चित्तम तब जन्म आत्मा का जन्म व्यवहार खत्म क्यों हित बारे फलंकुत जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसा होगा तो धर्माधर्म में कारण क्यों नहीं है क्योंकि पूर्व श्लोक में कह दिया था कि उसने द्वैता विवेश का अभाव निश्चय कर लिया सब द्वैव कहा था ना अभी अभी द्वय के अभाव का निश्चय कर लिया और द्वय कोटि के अंतर्गत धर्म धर्म पुण्य पापा जात्याश्रम विहिता वर्णाश्रम विहित आशीर्वर्जित अनुष्ठिया माना धर्मा कामना रहित अनुष्ठीयमान कर्म कांड को जो कि देवत्वादि प्राप्ति है तो केवल आश्चर्य देवत्वादि का प्राप्ति का कारणीभूता है उत्तम है केवल आश्चर्य जाति मन जन्म कैसा जन्म आश्रम आदि जन्म प्राप्ति हो रहा है जात्याश्रम भी था क्योंकि आप निर्निमित तो न जायते पूर्व पक्ष नहीं निमित्त है आप निर्निमित कैसे कह देते हो निमित्त तो सदा सदा के लिए विद्यमान है कहता है निमित्त मिट रहा मिट नहीं सकता है क्यों निमित्त यही है क्या चात्याश्रवेता आशी वर्जित अनुष्ठियमाना धर्म वर्ण और आश्रम के रूप विहित जो कामना रहित कर्म को अनुष्ठान कर लिया उससे जन जो पुण्य है वही पुण्य देवत्ता प्राप्ति का साधन है उन्हीं को यह उत्तमा हेतव कह दिया उत्तम ने आश्चर्य उत्तम अधर्म मिश्रत्व मध्यमत्व वारणा या केवल आस्थिति विशेषण उत्तमों के अंदर हो सकता है कहीं अधर्म थोड़ा मिश्रित हो तो मध्यम कोटि में चला जाएगा वो उस मध्यम कोटि में जाता हुआ अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए केवल आस्थित विशेषण देना पड़ा निष्काम कर्म से जो है या टिप्पण करता है देखो जाति ब्राह्मणत्वादि ही आश्रम ब्रह्मचर्यादि तद्देश्य आश्रम आश्रमता निष्काम स्पष्ट और धर्म अधर्म व्यामिश्रा और वही जब धर्म पुण्य पाप से मिश्रित हो जाए मनुष्यता प्राप्ति अर्था मध्यमा मनुष्यता शरीर का प्राप्ति के योग्य मध्यम कोटि का हेतु माना जाएगा ठीगा प्राप्ति निमित्ता अधर्म रक्षण प्रवृत्ति विशेषाश्च अधमा तिरेगारी प्राप्ति का निमित्त होता जो अधर्म प्रधान जो होता है अधर्म लक्षण अधर्म प्राय अधर्म प्राय है प्रवृत्ति विशेषाश्च अधमा प्रवृत्ति विशेषाश्च ऐसे की प्रवृत्ति विशेष भी अधम को टीका ही हुआ करता है हिंसा आदि के द्वारा ही चलते हैं ऐसा जो होते हैं वो अधम इस प्रकार से उत्तम मध्यम और अधम इस श्लोक में श्लोक का निर्माण हेतु वह उत्तम अधम मध्यमान कह दिया अधम को पहले ले लिया है वो तो श्लोक छंद के कारण से तो होता ही है उत्तम मध्यम अधमा तान उत्तम मध्यम अधमान देखो आगे यहाँ क्रम ठीक कर दिया तान उत्तम मध्यम अधमान अविद्या परिकल्पिता ये प्रभेद भी अविद्या परिकल्पित ही है यद एकमेव अद्वितीय मातत्व सर्वकल्पना वर्जितम जान जो व्यक्ति एक में द्वितीय आतु तत्व तो सर्वकल्पना रहित स्वरूप है उसको जानता हुआ है तो न लभते न पश्यती यथा बालयर दृश्यमान गगन तलमलम विवेकी न जब ऐसा न लभते कथा प्रकटा रहे तो न पश्यती जब उसमें द्वैत को एक कारणों को नहीं देख रहा है उत्तम अधम मध्यम जन्म के कारणीभूता धर्म अधर्म मिश्रों को वह अनुभव नहीं करता है न पश्यती न निश्चित होती मैं पुण्य वाला हूँ मैं पाप मई पुरुष हूँ या मिश्र हूँ ऐसा करके वो अपने अंदर अभिमान नहीं करता यही पर तात्पर्य न पश्यती का यथा बारे जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं अविवेकी बाले का तो अविवेकी लोग दृश्यमान गगन तलमलम अविवेकियों के अंदर दृश्यमान गगन का तल गगन का मल इनको क्या विवेकी मानता है कभी कभी नहीं विवेकी न पश्यती तद्वत ठीक उसी प्रकार से जब इन उत्तम मध्यम और अधमता का कारणीभूत हेतुओं को व्यक्ति अपने में अनुभव नहीं करता तदा न चाहते नोत्पत्ति चित्तम देवाद्या उत्तम मध्यम फल रूपेण न जाए देवता आदि आकारों को अर्थ उत्तम मध्यम और अधम आदि फल रूप को कार्य रूप को वह प्राप्त नहीं करता नहीं असति है तो फलम उत्पत्ति विजाद्य भाव एवं सस्यादि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होते हुए देखा गया जैसे कि बीज आदि का भाव हो जाए तो सस्यादि की उत्पत्ति नहीं होती है तदा न जायते चित्तम यह अपने पूर्व कारिका के तीसरे पाद में कहा था उस पर फिर विचार करता है वो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है अरे कुछ समय के लिए पैदा नहीं होगा बस फिर पैदा हो जाए जैसे प्रणय काल में कुछ नहीं था अब पहले पैदा होंगे क्यों हो गए वैसे ही ठीक है ये रटा हुआ है समझ रहा है कि अरे मेरे अंदर पुण्य पाप कुछ नहीं ऐसे निश्चय करके बैठ गया ठीक है हो सकता है कुछ वर्षों तक जो उसका जन्म होने कुछ नहीं होगा इन बाद फिर उसका होना चाहिए फिर पक्ष करता है उसका जन्म का निमित्त पूरा दूर हो नहीं सकता काल परिच्छेद प्रतीति है आगंत उत्तम आशंक परिहरती न जायद चित्त में जो कार्य हो वो भी काल परिच्छेद को लेकर के ही प्रतीति मात्र है तब उस शंका का निवारण करने के अनिमित चित्त यानुत्पत्ति समादया अजात सर्वस्व चित्त दृश्य परमार्थ ज्ञान के तरह धर्माधर्म आदि निमित्तों के निवृत्त हो जाने पर निमित्त अनिमित्त मान निमित्तों के निवृत्त हो जाने पर चित्त इस चित्त की जो नजायती शब्दों से कहा जो अनुत्पत्ति रूप है वो वास्तव में वो कैसा है वो समा अद्वया वह मोक्ष नामक अनुत्पत्ति सर्वथा समय अर्थात निर्विशेष है और वो अद्वितीय भी है ये जो अनुत्पत्ति न जायते शब्दों से कहा जा रहा अनुत्पत्ति रूपा वो मोक्ष का ही स्वरूप अनुत्पत्ति क्योंकि उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका सर्व विशेष अभाव हो जाता है निर्विशेष भाव को प्राप्त निर्विशेष भाव को प्राप्त करोगे तो आप स्वयं अपराध स्वरूप स्थित है अद्वय वास्तव में तो पहले से ही आप क्या थे अजात से सब के सब अजाती हैं कोई भी जात है नहीं जन्मा हुआ है ही नहीं फिर जन्मन क्या दिखाई दिया चित्त दृश्य में तत्थ क्योंकि जो है ये जन्मारी जो कुछ हम तुम व्यवहार कर रहे हो और अनुभव में आ रहा है वह सब चित्त का दृश्य मात्र होने से जन्मादि जो है ना वो कल्पना मात्र तत्व न जन्मादि चित्त दृश्यम ये कहा क्योंकि जो है ये जो जन्मादि है वो चित्त का दृश्य मात्र है अगर आजाद चित्त की अनुत्पत्ति समान ही थी सभी आजाद चित्त पहले भी है अतः पहले भी अनुत्पत्ति है अब भी अनुत्पत्ति है बीच में केवल हमें उत्पत्ति जैसा प्रतीत जो हुआ वह चित्त का दृश्य मात्र होने से मिथ्या है कल्पना है समझ भाष्यकार कहते हैं हे तभाव चित्तम ही उत्तम हे तभावे चित्तम नोत्प्रत क्यों कोई कारण नहीं रह जाता है द्वैत द्वैता अभिमान जो था द्वैता विनिवेश था सत्य द्वैता विनिवेश वही कारण था अब वो कारण न होने से चित्त की उत्पत्ति व्यवहार ही नहीं हो सकता है इति ही उत्तम ही जो आपने कहा था सा ही चित्त से कीदृशी वह अनुपत्ति जो आप कह रहे हो वह किस प्रकार का है आत्मा की अनुपत्ति जो कथन किया गया वो किस प्रकार की है परमार्थ दर्शन निरस्त धर्माधर्माख्योत्पत्ति निमित्त से अनित चित्त से परमार्थ दर्शन के द्वारा मन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निरस्त कर दिया धर्माधर्म रूपा जो उत्पत्ति का निमित्त उत्पत्ति का निमित्त ज्ञान है धर्माधर्म आदि और धर्माधर्म का निमित्त क्या है द्वैताभिनिवेश वही खत्म हो गया है इसे निरस्त हो चुका है धर्माधर्म नाम के जो उत्पत्ति के निमित्त इसलिए इस आत्मा किस रूप का है अभी अनिमित्त चित्त अगर निमित्त रहित निवृत्त निमित्त वाला आत्मा है ऐसी आत्मा का यह जो अनुत्पत्ति मैंने मोक्षा क्या अनुपत्ति अनुपत्ति और कुछ नहीं मोक्ष नाम की स्थिति है सा सर्वदा मैंने सर्वावस्था सु जागृत में हो स्वप्न में हो सुशुक्ति में हो किसी भी अवस्था में हो समा निर्विशेषा वह निर्विशेष रहेगा अद्वया और अपना द्वैत अद्वितीय रूप में रहता पूर्व भी अजात से ही अनुत्पन्न से क्योंकि पहले से भी वो वास्तव में कैसा था चित्त अजात ही था कभी पैदा हो गया था और अब अजात रूप को प्राप्त कर गया ऐसी बात नहीं है पहले भी पूर्व भी अजात से मैंने अनुत्पन्न से कौन चित्त सर्वस्य जितनी भी आप आत्माओं को उत्पन्न मान रहे अनेक जीवात्मा मानो और सभी जात उत्पत्ति जो मान रहे हो वास्तव में सब के सब जीवात्मा पहले अजात ही थी सर्वस्व अद्वेषित इस बार राग भी नित्य अजात जिसलिए विज्ञेतार्श ब्रह्म ज्ञान से पूर्व में भी वास्तव में चित्त दृश्य तद्वयम जन्म इसलिए क्योंकि एतार्श ब्रह्म ज्ञान जब नहीं भी हुआ है जिस काल में आप इस जगत को पारमार्थिक मान रहे हैं उस स्थिति में भी जगत पारमार्थिक नहीं है उस स्थिति में भी जो है ना यह चित्त का दृश्य ही है कौन वह जो द्वैत है जन्मादि है जिसलिए ऐसा तस्मात अजात से सर्व से सर्व सर्वदा चित्त सर्वदा ही जो है ना ये समस्त चित्त क्या है अजात रूप वाले होने से समा अद्वय एवं अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित भवती इसलिए सब अनुत्पत्ति स्वरूप ही है अत दोबारा इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती कदाचित व न भवती सर्वदा एक रूपा ही वात्पर्य वो सर्वदा एक रूप है जिस समय द्वैत दिखाई दे रहा है उस समय भी वह अद्वैत रूप ही है द्वैत उत्पत्ति के पहले भी अद्वैत ही था द्वैत अभाव के अंतर भी अद्वैत ही रहेगा द्वैत स्थितिकाल में भी वास्तव में अद्वैत ही है क्योंकि वह सर्वदा एक रूप होता है बुद्धवा अनिमितता सत्याम हेतु पृथग अनात्मवन वीत शोकम तथा कामम अभयम पदम पदमश्नुते अनियमितता कोई परमार्थ रूप है ऐसा जान लिया उसने जानने के कारण से देवाली योनियों की प्राप्ति कारण ही भूता जो हेतु पृथक अनात्मन स्व भिन्न रूपेण स्व अन्य रूपेण कहीं उसे प्राप्ति नहीं होती है ऐसा वह अनुभूति नहीं कर पाता वह स्वीकार करता नहीं है हेतु पृथक अनात्मन देवाश्रम प्राप्ति का कारणीभूता जो धर्म धर्म आदियों को स्वभिन्न को यथार्थ रूपेण वह प्राप्त नहीं कर पाता न करते हुए वीत शोकम वह विद्वान जो है ना वीत शोकम शोक और अकामम शोक और काम रहित अशोकम अकामम इत्यर्थ शोक और काम से रहित होकर के अभयम पदम अश्नुते वह मुख पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है भाष्यकार कहते हैं यथोक्त न्याय न पूर्वोक्त युक्तियों के द्वारा यह बात सिद्ध कर दिया गया है जन्म निमित्त से द्वैस्य भाव जन्म का निमित्त कारणीभूत जो द्वय कर्ण अधर्मा आदि जो कि उसका भी कारण क्या है असत्य द्वैत का विनिवेश उसके अभाव अनियमिततांच सत्याम अनियमितता को अनुभव करते हुए परमार्थ रूपाम उस परमार्थ स्वरूप को अनुभव करने से बुद्धवा बुद्ध हमने जान करके मतलब अनुभव करके अनुभूति स्वरूप से वो ग्रहण कर रहा है हेतु धर्माधर्म के कारण हेतु तो क्या धर्माधर्म रूपी कारण किसके प्रति देवादि योनि प्राप्त देवादि की प्राप्ति के लिए उनको उन कारणों को क्या है पृथक अनात्मवन अनुपादना त्यक्त क्योंकि वो उसको क्यों उसके ग्रहण नहीं किया उसने पृथक स्व पृथक रूपेण है करके क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है क्यों बाह्य अनुपाद दान उन्हें उपादान नहीं कर रहा है क्यों उसने सकल बाह्यष्णों को त्याग दिया जब तक बाह्यष्णा है तब तो उस वस्तुओं को प्राप्ति हेतु आपको धर्माधर्म सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा द्वैता विनिवेश करनी पड़ेगी सब कुछ होगा इसलिए चाहे लोकेष्णा हो चाहे वित्तेषणा हो चाहे पुत्रेष्णा हो और पुत्रेश तो खैर अधिकतर साधकों में तो होता नहीं है है या नहीं पुत्रेष्टा में तो होता नहीं लेकिन लोकेश वित्तेषणा दोनों बड़ा सताता है मोक्ष उनको यही दो ज्यादा सताते हैं कभी कभी उत्तराधिकारी बनाने के चक्कर में पुत्रेष्ठा भी आ जाता है वो एक अलग बात है लेकिन अधिकतर साधुओं में पुत्रेष्ठा तो होता नहीं लेकिन लोकेष्ठा तो भयंकर रहता है वित्तेष्ठा भी रहता है इसलिए ऐसा को त्यागे ना जाना इसका अनुभूति नहीं हो सकता इसलिए भाष्यकार इस बात को जोड़ कर कह रहे अपने तरफ से कि भाई वो कैसा है वो त्यक्त भाईषण सन काम शोक वर्जित इसलिए काम शोक सरहित हो गया अविद्याम कहने का तात्पर्य अविद्या ही नहीं रहा अवयम पदम अश्वते पुनर्न जाएगी करता वो अवय पद को प्राप्त करता है का तात्पर्य है वो पूर्वोक्ति को जोड़ कर दिया पुनर्न जाएगी करता पुनः उसका जन्म नहीं होता है यही इसका तात्पर्य हो गया कहते हैं कि भाई आप तो कहते तो हो लेकिन हमें तो नहीं लगता ये बात ऐसा है अरे नहीं हम तो बेटे तो जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी मान रहे हैं या अपने को माने ना माने हम लोग जिनको ब्रह्म ज्ञानी मान रहे हैं वो कहे ना कहे हम तो मानते हैं किसी को ब्रह्म ज्ञानी मान लो लेकिन उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है खा रहे पी रहे आ रहे जा रहे उनको भी गुस्सा करता हुआ देखने को मिलता है सबको छोड़ा ना मैंने आप उसे कहा था अरे इनका तो कार्यक्रम के वजह लीला है गुरु जी की लीला है अरे हम लोग गुरु जी की लीला हम लोग उस पर पहले लेवल लगा देंगे लेकिन दूसरा मानेगा क्या कैसे होगा वो व्यवस्था उसकी कहते तो जैसा वैसा जैसा कारण है वैसा कारण अभूता भी निवेश है ना असत्याभिनिवेश है अतएव असत दिखाई दे रहा है अभूताभिनिवेशाधि सदृश तत्प्रवर्तते वक्त भाव समुद्ध निसंगम विनिवर्तते अस्भूताभिनिवेश अभूताभिनिवेश के कारण से मैंने मिथ्या द्वैताभिनिवेश के कारण से ही मिथ्या द्वैत विषय में हमारी सारी प्रवृत्ति सदृश सदृश मैंने मिथ्या द्वैतात्म जो विषय है तब प्रवर्तक है जैसा हमारी अभिनिवेश है वैसा प्रवृत्ति भी है मिथ्या अभिनिवेश है मिथ्या प्रवृत्ति है मिथ्या विषय है सदृश तत् प्रवर्तते असत्य के सत्यत्व आग्रह से ही चित्त क्या कर रहा है तत्व ने वो जो चित्त जो आत्मा जीवात्मा वह तद अनुरूप विषयों में अर्थात मिथ्यारूप विषयों में मिथ्या प्रवृत्ति करते रहता है तो इसलिए वास्तविक आत्मा का कोई प्रवृत्ति किसी भी चीज में है ही नहीं और व्यक्ति जब वस्तु भाव तर्ज वस्तु के अभाव को जब निश्चय कर लेता है सब द्वैव निसंगम संग विनिवर्त थे वह निसंग होकर के मिथ्या विनिवेश का कार्य जन्मादि विषय से आसक्ति को त्याग करके निसंग भाव में स्थित होकर के विनिवर्तते तारस पूर्वक द्वैत प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है भाष्य यही है यस्माद भूताभिनिवेशात जिस कारण से भाई ये मिथ्याभिनिवेश को लेकर के ही असति द्वये मान असत्यात्मक द्वैत में द्वयास्तित्व निश्चय असत्यात्मक द्वैत में क्या कर दिया सत्यात्मक द्वैत का निश्चय कर लिया है अभूताभिनिवेश इसी का नाम अभूताभिनिवेश तस्मात अविद्या व्यामोह रूपात ये जिसलिए अविद्या व्यामोह रूपात थी अविद्या व्यामोह रूपात मैंने अविद्याजन्य भ्रांति रूपात अविद्या से जन्य एकाश भ्रांति रूपी कारण को लेकर के ही सदृश मन तद अनुरूप तद अनुरूप मतलब वो भी जो होगा कैसा होगा भ्रांति अविद्याजन्य भ्रांत्या प्रवृत्ति है प्रवर्त आत्मा में आत्मा की प्रवृत्ति जो है वो भी भ्रांति है क्यों क्योंकि यह अनुभव में आता है कि जब यदा तस्य द्वैस वस्तु अभाव यदा जब जो है तारस द्वैतात्मक वस्तु के अभाव को बुद्धवान के मोक्ष अनुभव कर लेता है तदा तस्मात उसी कारण उस अनुभूति के कारण से द्वैता भाव रूपी अनुभूति के कारण से उस मिथ्या में द्वैत में जो विद्यमान सत्यत्व के निवृत्त हो जाने मात्र से ही निसंगम निरपेक्षम सद वह निसंग होकर के अर्थ निरपेक्ष होकर के स्विषय द्वैत प्रवृत्ति प्रयोजका अभूताभिनिवेशात विस्मिता देखो अथवा कर लेना विषय भूता जो द्वैत था उसमें जो प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या था अभूताभिनिवेश थी मिथ्या भ्रांति थी वो भ्रांति का विश्लेष हो गया विश्लेषण मात्र से वन्य संगम निरपेक्ष भाव को प्राप्त होकर विनिवर्तते अभूत विनिवेश विषयात विनिवर्तते असत्य में सत्यता विनिवेश के कारण से जो प्रवृत्ति हुई थी घटपटादि विषयों में तत्ताज प्रवृत्ति से वो निवृत्त हो जाता है निश्चला ही तदा स्त्री विषय सही बुद्धा नाम तत्साम्यम मजमद्वयम कहते हैं जो आपने पहले वर्णन किया अभयम पदम अष्टोदय वो अभय पद को क्यों प्राप्त करता है इसमें हेतु तो बताना पड़ेगा कि अजातवाद का जब वह निश्चय पूर्वक स्वरूप अनुभूति कर लेता है तो अभय पद को प्राप्त करता है ये कह दिए लेकिन इसमें क्या हेतु है तो हेतु बता रहे कि निवृत्त क्योंकि उस समय तदा तदा मने उस समय में सर्वस्थिति काल में निवृत्त द्वैत विषय से निवृत्त हो गया और अप्रवृत्त से विषयांतर में प्रवृत्त भी नहीं हुआ द्वैत से निवृत्त में विषयांतर प्रवृत्ति कहा आई यह विषयांतर का मतलब है ब्रह्माकार वृत्ति का विषय है ब्रह्म को भी नहीं करता वृत्ति व्याप्ति मानते हैं प्रत्येक विषय वस्तु को हम कहते ज्ञान का विषय है तब जब फल व्याप्ति होती वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति वेदा सिद्धांत मुख्य है इंद्रियों से वृत्ति चली गई वृत्तियावच्छन होकर के विषयावचन के साथ एकीभूत हो गया फिर वह विषय का प्रकाशन होकर फलित जब हो जाता फलित चेतन को लेकर के कहा दिया जाता है कि फल व्याप्ति हो गई तब आपको ज्ञान होता है अयंगट नहीं तो आप कहोगे इदम किंचित इदम किंचित भवती इसी प्रकार वृत्ति व्याप्ति का दृष्टान्त सुषुप्ति में देखते हैं वृत्ति व्याप्ति तो है फल व्याप्ति नहीं है फिर जगने के बाद आपको अनुभूति के बारे में ग्रहण होता है उससे पहले नहीं होता उसी समय में करणों का अभाव होने से तो इसी प्रकार कहते सिर्फ आप स्वरूप में चले जाओगे वहां पर भी क्या होता है द्वैत तो निवृत्त हो गया फिर ऐसा विषय भी नहीं है जिसमें फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्त मात्र होता हो वो भी नहीं है इसलिए अप्रवृत्त से कहना जरूरत हो गया और इसलिए आगे कहेंगे ये तो केवल विद्वान का विषय है विद्वान ही